सत्य का नाम देने वाला व्यक्ति मिलना मुश्किल अच्छी एक घटना हो जाती है उसी ऊपर बर्बाद हुआ चला है क्या है वो कितने देखो जी एकता निर्दित पद के संज्ञान पंचमस्य वर्तते इस स्वयं ब्रह्म की परमात्मा देवता निश्चित पंक्ति और पंचम स्वर है पुनः विषय कहा फिर उसी विषय को इस मंत्र में कहा है पदार्थ श्रुति स्थापना न निवेदे तब से समय ग्रस्त प्रतिमा प्रत्यनीयते आकं परिवासं दर्शितं शोणकालं प्रतिकृति आकृति वा अस्ति वर्तते यस्य नव नवस्मरणं महत्पूज्यं यत कीर्तिकं सर्वकर्मजनां ग्रन्थगर्वः सूर्यविद्युत् आदिपुरादिकरणम् इति एषः अन्तर्यामी प्रत्यक्षः मां निवेदे मा मां जीवात् मान किंति संध्या साढ़े पूर्वम सूर्या एका प्रार्थना प्रज्ञा यस्मात् कारणात् न निषेधे जातम फलम इति एकम परमात्मा परार्थम आधार हे मनुष्य यश जिसका महत् पूज्य बड़ा यश एक ही करने वाला धर्म कर्म का आचरण ही नाम नाम स्मरण है जो हिरण्य गर्भन सूर्य बिजली आदि पदार्थों का आधार इस प्रकार एक अंतर्यामी होने के प्रत्यक्ष जिसकी माँ उसको माँ दूसरी मत ताड़ना दे हुआ वह अपने से मुझको विमुख मत करे इसी इस प्रकार ऐसा यह प्रार्थना हुआ बुद्धि और यह इस कारण न नहीं जातक उत्पन्न हुआ इसी इस प्रकार एकदम यह और उपासना के योग्य है सबसे उस परमेश्वर की प्रतिमा प्रतिमा परिवार उसके पूर्ण अग्नि का कारण प्रकृति की मूर्ति व आकृति न भक्ति नहीं है अथवा द्वितीय पक्ष यह है कि हिरण्य गर्भ इस पच्चीसवें अध्याय में दस मंत्र से तेरह मंत्र तक का इसी एक यह कहा हुआ अनुवाद माँ और हिंदी इसी इसी प्रकार एका यह ऋचा वारण्य अध्याय की एक सौ नोवा मंत्र है और यशवान जाता ही देकर यह आठवें अध्याय के छत्तीस पैंतीस दो मंत्र का अनुवाद यश इस परमेश्वर की नाम प्रसिद्ध महत महती यह सब कीर्ति है तत् उसका प्रतिमा प्रतिबिंब शक्ति न अस्थि नहीं है भावार्थ हे मनुष्य जो कभी वे बारे नहीं होता जिसका कुछ भी परिवार सीमा का कारण नहीं है जिसकी आज्ञा का पालन भी नाम स्मरण है जो उपासना किया हुआ अपने उपासकों पर संग्रह करता है वेदों के अनेक स्तरों में इसका महत्व कहा गया है जो नहीं बनता न विकसित होता न नष्ट होता उसी की उपासना निरंतर करो जो इससे भूलने की उपासना करोगे तो महान काम से विश्व में आप लोग उन प्रेमों से न क्यों होंगे वे स्वास्थ्य वेद के आधार पर हम अनेक बातों का निर्णय करें a सर्वज्ञ का कारण सर्वज्ञता का कारण एक सर्वव्यापकता और सर्वज्ञ होने पर ही ये लोक की क्रियाएं बुद्धिपूर्वक होती है सर्वज्ञ होने से ईश्वर का ज्ञान जो वेद है उसको अनेक विषयों में आधार है न प्रतिमा अस्थि अब हम देखते हैं कि भारत में लाखों करोड़ों लोग ईश्वर को के रूप में देखने का प्रयास करते हैं आकृति के रूप में देखना चाहते हैं परिणाम आज ये है कि इतने लोगों में करोड़ों में एक भी व्यक्ति ईश्वर को जानने वाला नहीं है परिणाम ये इसका फल परिणाम ये निकला चरित्र विद्या पुरोपकार का विनाश हो यदि लोग वेद की बात को ठीक समझते अथवा जब भटके हुए लोग थे महर्षि ज्ञान की बात को उस समय समझ लेते तो ये विनाश भारत का जो आज हुआ ये नहीं होता कारण ईश्वर को ठीक समझने मानने पर व्यक्ति चरित्रवान होता है ईश्वर को ठीक जानने मानने से व्यक्ति उसी की उपासना करता है दूसरे की नहीं ईश्वर को जानने से उसकी उपासना करने से व्यक्ति विद्वान बनता है अन्यथा नहीं ईश्वर को जानने मानने से व्यक्ति निष्काम कर्मी बनता है अन्यथा नहीं ईश्वर को ठीक जानने मानने से व्यक्ति प्रेम से रहता है संगति से रहता है वाद विवाद झगड़े नहीं करता ये सारे दोष ईश्वर को न मानने अथवा गलत मानने से आए ईश्वर को न मानने से सारे दोष आएंगे और ईश्वर को अशुद्ध गलत रूप में मानने से ये दोष आते हैं प्रत्येक व्यक्ति मानते न पश्य प्रतिमा अस्ति न नहीं पश्य उसकी प्रतिमा मूर्ति आकृति ईश्वर की आकृति सकल मूर्ति नहीं है प्रतिमा के अनेक अर्थ होते हैं नर नहीं पश्य ईश्वर की प्रतिमा तोड़ने का मापने का साधन नहीं है आपको क्या समझ में आया हम इसको तोड़ देते हैं कितने किलो है इतनी लंबाई तोड़ते हैं इतना लंबा है लंबाई को मापना चौड़ाई को मापना ऊंचाई को मापना भार को मापना प्राय ऐसे साधन आज सुनते हैं हमको तो, अधिक तो पता नहीं वैज्ञानिकों ने तो सारी भूमि में भार कितना इसको भी माप लिया है क्योंकि ऐसा सुनते हैं ना मुंह में कितना भार है इसको माप लिया इसके मापने के साथ है और वेद कहता है न सत्य प्रतिमा परमात्मा को मापने की तखड़ी इतना लंबा चौड़ा इतना ज्ञान विज्ञान इतना आनंद इसका साधन ही नहीं है न सत्य प्रतिमा की तीसरी बात न तस्य अस्ति तस्य ईश्वरस्य तदस्य कश्चित अन्य पदार्थ नास्ति क्या समझे ईश्वर के सदृश भी कोई अन्य पदार्थ नहीं है तो विशेष ध्यान देने की बात यह है कि ईश्वर को वेद के अनुरूप न समझने से ईश्वर की वास्तविक पूजा वो न हुई अशुद्ध गलत पूजा और ये बात यहां तक आगे बढ़ी हुई है आज आज कोई ईश्वर को ऐसा समझाना चाहता है उपदेश देता है लेख लिखता है तो करोड़ों लोग उसको नास्तिक के नियम तैयार है आर्य समाज को आर्य समाज के विद्वानों को लोगों ने प्रचारित कर करके ये सिद्ध किया कि ये पक्के नास्तिक हो गए क्यों इन्होंने ईश्वर को सही माना है हाँ। ईश्वर को वास्तविक सही रूप में मानने से बोलिए वाराणसी में बोलिए और विश्वविद्यालय जो बने बने आप सही जाइए इतना दिमाग खराब है लोगों का वास्तविक ईश्वर को मानने जानने बताने वाले नास्तिक और अशुद्ध जानने मानने वाले आस्तिक परिणाम ये निकला कि मानव जाति का संबंध ईश्वर से कट गया टूट गया छिन्न मिला से गलत रूप में ईश्वर की पूजा पाठ होने लगे गलत रूप से व्याख्या देखिए ईश्वर को जब गलत रूप में माना जाएगा तो उसके आदेश भी गलत रूप में मान उसकी आज्ञा उसका बताया धर्म भी गलत रूप में होगा ये कितनी बड़ी जनसंख्या आती है लोगों की जो ईश्वर को गलत रूप में मान जानती है और वो जन समुदाय ये कहता है ईश्वर जो है इस प्रकार का उसका आदेश हमारे संप्रदाय के लिए और है और दूसरे संप्रदाय के लिए और है और तीसरे संप्रदाय के लिए और है और चौथे संप्रदाय के लिए और है अब इसमें फिर झगड़े इतने मजे बीच बीच में ईश्वर के नाम से ही लड़ाई होगा कुछ और वो कहता है मेरा भगवान ठीक है और वो कहता है मेरा ठीक है फिर लड़ाई और फिर लड़ाई लड़ाई में सारा जीवन बीत गया भगवान के कोई जन्म नहीं था लड़ाई लड़ाई में सारा जीवन व्यतीत हो गया भगवान के साथ संबंध कुछ नहीं है ये लड़ाई मैदान में हो रही है पर भगवान देख रहा है कि ये क्या कर रही है और हम सोचते हैं कि भाई इनको भगवान क्या बनाएगा हम छोटे छोटे बच्चे को समझा करते हैं बच्चों याद रखो जो लड़ते रहते हैं झगड़ते रहते हैं उनको ऐसा ही जानवर बना देता है भगवान कौन लगते हैं बहुत जी हमारे सामने लोग <laughs> ये कुत्ते लड़ते रहते हैं इतने भयंकर हैं ये कुत्ते और उनको एक एक रोटी डालती एक इसको डालती है दो इसको डालती दिए जानते आपस में रहे वो क्या करता है जब तगड़ा पीता है अपनी रोटी तो सुरक्षित रह नहीं लेता है भाग करके उसको आक्रमण करता है उसको मारता है उसकी रोटी पहले खा लेता फिर अपनी खाता तो भगवान जी न्यायकारी है ही ऐसे लोगों को ऐसा ही बनाएगा जैसे हैं अभी तो जस्ती कम है इन लोगों को किसने देखा है पूर्व जन्म उत्तर जन्म हाँ। किसने देखा ऐसा के अब भले बच्ची आप आप खोल के देख पक्षी कीट पतंग सूअर शायद एक साफ करता है और क्या देखोगे अमेरिका ने तो सूअर बनाया नहीं कि टिट्टी साफ किया करेगा उसमें कारखाने बनाया हो क्या बनाया ना बना सकता अमरीका अच्छा अमरीका के लोग सूर बना पाए आज तक या कथा बना पाए हो नहीं विमान भले बना दिया कथा नहीं बना पाए आज तक बना ही नहीं सकते वजह का दाग वो ऐसा ही दिखता है कि देखा देखा तो पागल के लिए दिया जाता पर उसका शरीर कितना वजह नहीं है तो यश नाम है यश उस परमात्मा का नाम लेना वो धर्म का आचरण करना है अब सारी बातें तो इसमें कहनी नहीं इसलिए ईश्वर को ऐसा समझ के उसकी उपासना करनी चाहिए हो दुख का अनुभव नहीं कष्ट का अनुभव नहीं हम ये मानते हैं कि ये तप है ये तपस्या है हमको करनी चाहिए तो फिर कोई कठिनाई नहीं होगी यदि आपका मन बन गया जैसे घर में साधन मिलते हैं ऐसे न मिलने पर कष्ट का अनुभव आपको करने लग गया होने लग गया तो उसमें परिणाम ये निकलेगा आप न पढ़ पाएंगे न सीख पाएंगे न ध्यान कर पाएंगे आपके दिमाग में वही चक्कर काटेगा <laughs> तो वह दुख ही चक्कर काटेगा ये एक मनोविज्ञान मन में ऐसे विचारों को स्थान मिलेगा ध्यान यदि पकड़ लिया एक बार तो वो छोड़ेगा नहीं आप मन में ये विचार आए यहां तो देखो सोने के लिए खुली जगह नहीं स्नान के लिए कोई ऐसा नहीं शौचालय का प्रबंध नहीं वक्तरों की ऐसी बात है और कई तो कहते हैं देखो आश्रम वाले हमको मुझे नहीं समझ रहे <laughs> ऐसे जैसे पशुओं को रखते हैं ऐसे रखते हैं वो फिर वो वो हमारे सामने नहीं देगा इस बात को दूसरे को सुनाएगा बोल के हम हाँ, बात तो ऐसी तीसरे को सुनाएगा और तार की तरह फैल जाएगी वो बात सारे दिमाग हो जाएगा हाँ जी बात बिल्कुल ठीक है अगले पर सामने आएंगे तो ये मनोविज्ञान है यदि आपने एक ही बात को जगह दे दी तो सारी बातें बीस तीस अच्छी वो सब आपके हाथ में निकल हाँ, साधना नहीं हो पाएगी साधक को विचारधारा दूसरी रखनी पड़ती जैसी स्थिति आगे संतुष्ट है आगे बढ़ता जाता है बल्कि वह सोचता है मैं ये देखना ही चाहता हूं कितनी कठिनाई आती है मैं कब घबराता हूं वो तो ये देखने की स्थिति में रहता है कि कौन कठिनाई आई मैं कब खिंचेगा किसी कई बार ऐसे बातचीत में कह देते हैं जो अस्सी वर्ष का आ जाए हम अस्सी अस्सी के आ जाते सत्तर का बातचीत में कई बार थोड़ा सा तनाव हो गया तो अस्सी वर्ष का हो गया योगा बातचीत में आया और वो था थोड़ा सा जवान कहने वाला बस बूढ़े को तो चैन नहीं पड़ेगी <laughs> वो बूढ़ा तो को ही देखता रहेगा अब उसको पता नहीं मत साधक उसमें देखना यह था इसके कहते कहते मेरी मनस्थिति कितनी बिगड़ेगी और बिगड़नी नहीं चाहिए तुम तो ऐसे देखेगा तो समझ जाएगा और कहता हाँ आज मैंने उस युवा व्यक्ति ने जो मेरा अपमान किया मैंने बड़ा आनंद का अनुभव किया बड़ी साधना है मेरी अच्छी है आगे बढ़ रहा हूं तो साधना में ऐसे ऐसे प्रयोग करने अब